जब उन्होंने कहा यकीनन यूसुफ और उसका भाई दोनों हमारे वालिद को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं हालांकि हम एक मजबूत जत्था हैं यकीनन हमारे वालिद एक वाज गलती पर हैं